अल्हम्दुलिल्लाह नबी अल्लाह का फजल और उसका करम उसका एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें अपने रास्ते में दस दिन निकलने की तोफ़ी अता फरमाई ये अल्लाह की बड़ी तोफ़ी है जब ये बात याद आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लफ्ज़ है कलमे के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद सारे कलिमात पर वजनी कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसकी वजह हमद से फरमाई और इसी हमद से अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया मोहम्मद वसल्लम की ज़ात सरापा तारीफ है और उनका काम भी अल्लाह की तारीफ है चीज़ों की तारीफ करना एक इंसान दूसरे इंसान की तारीफ करना ये फितरत के खिलाफ है चीजों की तारीफ अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए करना दूसरे इंसान की तारीफ अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए करना और बरह रास्त अल्लाह की तारीफ करना अल्लाह की तारीफ में जाम कलिमा जो है वह है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का जो पहला सूरा है वो लफ्ज़ हमद से शुरू होता कुरान का जो पहला हरफ है कुरान का जो पहला सूरा है वो हमद से शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तारीफ उस अल्लाह की है जिसने सारे जहानों को बनाया जब अल्लाह ने सारी चीज़ों को बनाया तो इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं थोड़ी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं थोड़ी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती जैसे किसी को करेला अच्छा दिखता किसी को जाम अच्छा दिखता किसी को कोड़नचियाँ अच्छे दिखते किसी को सेम फल अच्छे दिखते ये अल्लाह की तारीफ है अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें थोड़ी हमें अच्छी लगती हैं थोड़ी हमें बुरी भी लगती हैं ये हमारी फितरत का तकाजा है वरना अल्लाह ने हर चीज़ अच्छी ही बनाया वो अल्लाह ने अल्लाह ने हर चीज़ अच्छी ही बनाया जिसे सेम फली पसंद नहीं या मटकी फल्ली पसंद नहीं अगर वो एक कहने लगे अल्लाह में यहाँ कई को तो बनेगी मटकी फल आए अल्लाह में कई को तो बनेगी सेम के फल आए अगर ऐसा कहेंगे तो अल्लाह की कुदरत पर हमने हर्फ रख दिया अल्लाह के कुदरत पर हमने हर्फ रख दिया लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिसकी जिसको ये दोनों चीजें पसंद हैं ये मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें खाने की वजह से शिफा मिल रही है अल्लाह ने उसके अंदर ऐसे विटामिन रखे कि जिसकी वजह से लोगों को फायदा हो रहा है हमें पसंद नहीं है वो अलग बात है लेकिन अल्लाह का जो निज़ाम कुदरत है ना हर चीज़ हमारे को अच्छी लगना ज़रूरी नहीं है थोड़ी चीज़ें हमें अच्छी लग सकती हैं थोड़ी चीज़ें हमारे को अच्छी नहीं भी लग सकती लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों कमाल इस बात का है कि हर हाल में हम अल्लाह की तारीफ करने वाले बनना जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए शिफा अता फरमाई तो अल्लाह की तारीफ है हमारे लिए बीमारी दे दी ये भी अल्लाह की तारीफ है ये भी अल्लाह की तारीफ है ये भी अल्लाह की तारीफ है बीमारी का आना हमारे लिए बुरा हो सकता है हमारी तबीयत के लिए बुरा हो सकता है लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों हमारी तरबियत के खिलाफ नहीं हो सकता हमारी तरबियत के खिलाफ नहीं हो सकता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झटका देते हैं कि देखो दुनिया की ज़िंदगी में अगर हम तुम्हें बीमार रखें तो तुम कैसे परेशान हो जाओगे हमें तुमने कितनी सलामती के साथ रखा फिर भी तुम हमारे को याद नहीं करते दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया की गर्मी को एक आधे घंटे के लिए तुम बर्दाश्त नहीं कर सके अगर तुम जहन्नम में चले गए तो फिर तुम गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगे तुम्हारे जिसम के अंदर कितनी रगे हैं कितनी हड्डियां हैं और कितनी अंतड़ियां हैं और कितना खून है और कितना पानी है हम उनको सलामत रखे हुए हैं अगर हम थोड़ा सा निज़ाम बिगड़ दें तुम्हारा कि देखो तुम कैसे परेशान हो जाते फिर भी तुम हमें याद नहीं करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात डालकर बंदे को आजमाते सबसे अच्छा बंदा वो है हर हाल में कहे अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में कहें अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हुआ ये अल्लाह की तरफ से हुआ जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है और जो कुछ आइंदा होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा जैसे देखो अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उनको बीमारी देकर आजमाया कुरान में लिखा है यह वाकया जितना भी बीमार रहे अयूब सलाम लेकिन एक दिन भी अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ा पूरा जिसम बीमार हो गया और जब बीमारी ज़बान की तरफ चलने लगी और जब उन्होंने अल्लाह से सिफारिश अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह मेरा जिसम पूरा का पूरा बीमार हो गया और मैं तुझे याद करता रहा लेकिन अब ये जो ज़बान है और ये भी मेरी बीमार हो जाएगी मैं तुझे याद कैसे करूंगा इतनी बीमारी के अंदर एक दिन भी अल्लाह का जिक्र अल्लाह की याद नहीं छोड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी भी सुनाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी भी सुनाई जिस आदमी को अल्लाह के रास्ते में या जिस ईमान वाले को अल्लाह के रास्ते में या जिस ईमान वाले को ईमानी अमाल में अगर सर दुख जाए अल्लाह उसके गुना माफ फरमा मफफरत कर जिस आदमी को एक दिन की बुखार आ जाए ईमान वाले को ईमान अमाल के दरमियान ये अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक दिन की अगर बुखार आ गई अल्लाह रबुल्जत उसकी पिछली जिंदगी के सारे गुना माफ फरमा अगर गुना नहीं है नेकियां ही नेकियां हैं तो जितनी नेकियां उसने अब तक करके हैं और उतनी नेकियां दोबारा अल्लाह मियाँ नाम अमाल में लिखेंगे एक दिन की बुखार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया अगर किसी को जिस्मानी एतबार से थकान हो गई थकान थकान हो गई दीन का काम करते करते या दावत का काम करते करते या अल्लाह के हुक्म को पूरा करते करते या सुन्नत पर चलते चलते थकान हो गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अमल कर रहे हैं हम उस अमल का अजर अलग देंगे और जो थकान हुई है जिसम के अंदर उस थकान का अजर अलग देंगे सवाल किया साहबा इकराम ने या रसूलल्लाह थकान का भी अजर है नगर थकान का अजर कितना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सी साल की इबादत आदमी थक जाए थकने की हालत में और कोई दीन का काम करे थकने की हालत में और अमल पूरा करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 80 साल की इबादत का अजर देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को आजमा रहे और ऐसा आजमा रहे कि देखो इन लोगों के अगर गुनाह है तो इनके गुनाहों को माफ़ कर दो और इनके ऊपर थोड़ी हालत डालकर देखो ये ये जो है बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो मेरे मोहतरमा बहनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को अपने रास्ते में निकलने की तोफ़ी नसीब फरमाई और जब भी हम इस बात को याद करेंगे हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ का कलमा है और अल्लाह की तारीफ हर उस बात पर होगी जो अल्लाह रबुल्जत ने कायनात के अंदर पैदा फरमाई कायनात के अंदर पैदा फरमाई और थोड़ी चीज़ें हमारे को अच्छी लगने वाली भी हैं और थोड़ी चीज़ें हमारे को अच्छी नहीं लगने वाली भी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वो ख़राब है मेरे मोहतरमा बहनों कि हमारी तबीयत के खिलाफ तो हो सकती है लेकिन हमारी तरबियत के खिलाफ नहीं हो सकती एक और मिसाल हमारे उस्ताद देते थे सुनने में तो ज़रा ऐसा लगता था लेकिन सोचो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाखाना बनाया अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है तो फिर फरमाते थे आप ये सोच रहे होंगे कि कि पकाने में क्या हिकमत है कि अरे भाई अगर तुम जो खाना खाते पेट में अगर वो अंदर जाकर पखाना ना बने तो फिर अगला खाना तुम कैसे खाओगे पहला खाना पेट में जाकर हजम नहीं होगा तो दूसरा खाना मजेदार भी नहीं दिखता दूसरा खाना मजेदार भी नहीं दिखता जब पेट में भी होके रहती है और जब दूसरा खाना ऊपर से खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा अल्लाह इज्जत की कैसी कुदरत है कि हमारे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और फिर भी हमारी तरबियत के लिए इबरत के लिए और इंसानी ज़रूरत के लिए और कितनी मुफीद और बेहतरीन चीज़ है कायनात में हज़ारों लाखों चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती और फिर भी वो हमारी तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाई हैं इसी तरीके से हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतें तकलीफ़ें बीमारियां हमें अच्छी तो नहीं लगती लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों ऐसी हालतों के अंदर भी हम अल्लाह की तारीफ करना अलहमदुल्ला का कलमा इख्तियार करना कोई पूछते क्या कैसे है तो पहला लफ्ज ये बोलना अलहमदुल्ला पहला लफ्ज क्या बोलना अलहमदुल्ला आम तौर पर औरतें क्या बोलते हैं हाँ क्या अच्छी तरह है क्या माँ अब्बा क्या अच्छा ले जी माँ मेरे कमरा टूट गए हाँ मेरा पेट चला गया मेरा सिर फूट गया ये कहीं का गाँव जी ये कहीं का घर जी नहीं मेरे मोहतरम माँ बहनों अल्लाह की तारीफ अल्लाह की तारीफ जैसे लोग बोलते ये बात सिर्फ ये जमात के लिए नहीं है मौत तक के लिए यही उसूल है जब आदमी पर कोई मुसीबत कोई तकलीफ अगर कोई आफत आ गई वो हमें अच्छी तो नहीं लगती अच्छी तो नहीं लगती वो नबियों का ईमान होता है और वो लोग इस पर भी राजी होते हैं वो नबियों का ईमान होता है वो लोग इस पर भी क्या होते हैं राजी होते हैं और कभी किसी से शिकवा शिकायत नहीं करते ये नबियों का आला दर्जे का ईमान है और उतना ईमान हमारा बनना नहीं हमारे को जाहिर सी बात है कोई भी तकलीफ देने वाली चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलने की बरकत से हम ये जो लफ्ज़ अलहमदुल्ला है ना लफ्ज़ अलहमदुल्ला इस लफ्ज़ से हम इतना जुड़ जाना और उस लफ्ज़ को और इतना अपनी जिंदगी के अंदर लाना हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह बोल जबान से एक बार अगर कोई आदमी अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा जबान से एक बार अगर कोई आदमी अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करेंगे जबान से एक बार अल्लाह को याद करके अल्लाह की कुदरत अजीमा को याद करके ये एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ने जितनी चीज़ें बनाई हैं वो सारी चीज़ों के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देती ये एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलने ये एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलने अल्लाह बने से चीज़ा में देखो दरिया के पानी के खतरे भी हैं पूरी दुनिया में पहाड़ और पहाड़ के रेजे हैं पूरी दुनिया में बालुक और बालुक के मैदाना भी हैं और बालुक के रेजे कितने होंगे बालुक के कंकरे कितने होंगे पूरी दुनिया के इधर हमारे राजस्थान और सऊदी चले जाओ और कैसी बालुक है कैसी मुहिम मुहिम बालुक है दरियाओं के अंदर कितना बालुक है दरियाओं के अंदर कितने पानी के कतरे हैं अल्लाह ने दरख्तों दरख्त बनाए दरख्तों पर कितने पत्ते हैं और ज़मीन के कितने ज़र्रात हैं अल्लाह रबुल्जत इतने बराबर नेकियां अल्लाह का हो ये कल अलहमदुल्ला में अल्लाह कितनी बड़ी दौलत हमें देने के लिए तैयार है क्या माँ तुम्हारा काम धंधा कैसा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मुकदर में है मिल रहा है क्या तुम्हारी दुकान कैसी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने हमारे मुकदर में लिखा वो दे रहा है हाँ क्या माँ तुम्हारे बच्चे की जान कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है जो उसके मुकद्दर का है अल्लाह उसका इंतज़ाम करे हाँ क्या तुम्हारे खेता में कितने पेपा है बरस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है हमारे खाने के काबिल अल्लाह ने हमारे को दे दिया जो हमारे मुकदर में लिखा था अल्लाह ने हमारे को पहुंचा दिया लेकिन हमारी जबानें कैसी रहती है अलहमदुल्ला नहीं निकलता पहले क्या दुकान कैसी चलती है क्या दुकान ले वो मर जाना एक कम है क्या करते सुबह से शाम तक बैठे तो एक रुपया भी चलता नहीं क्या माँ खेता कैसे तुम्हारे अब अब खेता में अंगार लग जाओ ये बरस विकास नहीं क्या माँ बच्चे के जान पैसा है अब क्या करते हैं पैसे को पैसे हो जाती हैं ये डॉक्टर इतना खा लिया वो डॉक्टर इतना खा लिया इधर इतना हो गया इधर इतना हो गया बच्चा के लिए अच्छा होता नहीं अल्लाह का नाम ही नहीं मुको अल्लाह का नाम ही नहीं मुको मेरे मोहतरमा बहनों अलहमदुल्ला शुक्र भी है याद रखो ये बात अलहमदुल्ला शुक्र भी है शुक्र जो आदमी शुक्र करेगा अल्लाह रब्ज़त उसके नेमत में इजाफा करेगा अल्लाह उसकी नेमत में इजाफा करे शुक्र करने की यह बरकत है जब चीज़ों की बुनियाद पर औलाद की बुनियाद पर घर की बुनियाद पर आलम की बुनियाद पर जब हम अल्लाह की तारीफ करेंगे अल्लाह इज्जत हमारी उन चीज़ों के अंदर बरकत देंगे अगर किसी ने पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आफियत बख्शी है अल्लाह ने जिस हाल में रखी वही हमारे मुकद्दर है अगर अल्लाह इज्जत कुछ और चीज़ दे देते और कुछ और परेशानी आती तो फिर हम क्या कर सकते शेख सादी अली रहमा अपनी फारसी की किताब में लिखे एक आदमी का पैर टूटा हुआ है जाके उससे पूछते हैं क्या भाई तुम्हारी हालत कैसी है अल्लाह का फजल है भाई मेरे को बहुत अच्छा हूं मैं ये तुम्हारा पैर कैसा गया जगह फला जगह नीचे गिर गया था इस वजह से मेरा पैर कट गया तो बोले फिर भी तुम अल्लाह की तारीफ करते आओ हाँ भाई अल्लाह की तारीफ करना पड़ता अल्लाह का फजल है मेरे दो पाँव के एक खिंच गया दो जाते तो मैं क्या करता फिर थोड़ा आगे चले फिर थोड़ा आगे चले एक आदमी एक आंख से अंधा था और एक आंख से ऐसा था जाकर बोले हाँ क्या भाई क्या चित्रा है क्या कि तुम्हारे हंगी को जब ये सर का है अरे क्या करते माँ मैं जा रहा था वो ऐसा नीचे गिरा वो हंकी में चुप गया मार लग गया क्या करती हमारे जिंदगी वैसे है क्या बोलना मैं जाते जाते गिर गया देखो ये है वो है इस तरीके से बोला लेकिन अल्लाह की तारीफ नहीं की उससे मेरी किस्मत खराब थी मेरी मुकदर खराब थी मेरी जिंदगी खराब थी अल्लाह कैसा लिखेंगी कैसा नहीं की दो तो हम क्या होती है उसमें से एक चले गई देखो अल्लाह की नाशुक्री की और अल्लाह को जो है ना थोड़ी रिवर्स बातें शेख सादी अली रहमा फरमाते मैं पूछ रहा था और वो जवाब दे रहा था अचानक एक परिंदा आया और आकर और उसकी आंख में पैर मारा और उसका दीदा दूसरा भी लेकर उड़ गया शेख सादी अली रमा बोलते ना शुक्री करने वाले को ऐसा ही होना चाहिए अरे भाई शुक्र करने के लिए तेरे पास दूसरी आंख थी और जिन लोगों के पास दो नहीं है वो कैसे जी रहे होंगे ना शुक्री करने वालों को ऐसा होता है इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों हम लोगों के लिए ज़रूरी है हम हर हाल में अपनी ज़बान पर शुक्र के कलिमात रखें और अल्हम्दुलिल्लाह रखें जिसकी ज़बान पे जितना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा अल्लाह उनके घर में उतनी बरकत करेंगे शुक्र की वजह से शुक्र की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र भी है मेरे मोहतरम माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई आदमी दुनिया की बहुत सारी उसकी ज़रूरतें हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं मांग रहे सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके दुआ कर रहे हैं अल्लाह उसको उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें दे अल्हम्दुलिल्लाह का इतना खासा है अल्लाह उसको उसकी ज़रूरत के सारी चीज़ें मरहमत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत से मेरे मोहतरम माँ बहनों हम अल्हम्दुलिल्लाह का जो कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे से बहुत दूर हो गई देखो अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे से नज़दीक होना रसूल ने इशा फरमाया औरतें बल्ला के बड़े ने क्या करने की क्या खास जरूरत नहीं औरतें छोटा मोटा काम करते हुए अल्लाह जन्नत में डाल है रसूल क्या बोले औरतें पहला काम अल्लाह की तारीफ करते रहे और दूसरा काम किसी की गिबत ना करें और नमाज पढ़े रोज़ा रखे बताओ जी मुश्किल काम है आसान काम है इतना आसान है हाँ। अल्लाह में उनको जन्नत में दादा देंगे अब औरता यज भारी देखो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ना का तो भी भारी चू रोजा रखना का तो भी भारी चू नमाज रोजा कैसा भी करें भी बोल हो नमाज रोजा कैसा भी करीम बोल हो अल्लाह की तारीफ नहीं करते अगर ले देखो और जो है जमात में जाको सिक्को अल्लाह की तारीफ भी अगर बोल को बोल रहे हो लेकिन दूसरे की बुराई नहीं छोड़ते ये चार में से किसी ना किसी चीज में अटक जाती है ये चार में से किसी ना किसी चीज में अटक जाती है लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों ध्यान के साथ ये बात याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा करम और उसका एहसान और उसका फजल हुआ कि उसने हम लोगों को दस दिन अल्लाह के रास्ते में निकलने की तोफीक दिया और मालूम हुआ कि कल रात और कल से चंद लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई और सभी लोगों के लिए दुआ भी चल रही है कि जमात बेदम ले आई और तबीयत ख़राब हो गई और सब लोग फिक्रमंद भी हैं मशुरे के अंदर आप लोगों के लिए दुआ भी कर रहे हैं और इन दुआ चलती भी रहेगी और आप लोग जैसे बीमार हुए आपकी दुआ भी अल्लाह के यहाँ बहुत काबिल कबूल होगी बस आप अपनी ज़बानों पर अल्लाह की तारीफ रखो अल्लाह तुम्हारी शिफा में बरकत देगा और बीमारी की हालत में बीमार आदमी जब दुआ करेगा अल्लाह उस बीमार की दुआ को रद्द नहीं करता देखो कितना बड़ा सवाल बीमारी की हालत में अगर कोई आदमी बीमारी की हालत में अल्लाह से दुआ करे अल्लाह इज्जत उस दुआ को ज़रूर पूरा फरमाए ज़रूर मंजूर फरमाए अगर आदमी घर में रहकर बीमार हो जाए और बीमार होकर दुआ करे उसकी दुआ अल्लाह के रास्ते में निकले हुए मुजाहिद की तरह कबूल होगी दे के उन उस बीमारी के हालत में नमाज पढ़े घर में बीमार हो को नमाज पढ़ा तो, तो उसकी दुआ अल्लाह के रास्ते में निकले हुए मुजाहिद की तरह कबूल होती है मेरा मोहतरमा बहनों अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो कोई बीमार हो जाए फिर उसकी फजीलत का क्या अंदाजा हो और उस पर सबर करेंगे फिर अल्लाह कितना बड़ा आदर उसको देंगे कितना बड़ा आदर अल्लाह मियाँ उसको अता फरमाए इसलिए देखो शुक्र भी करो इसलिए शुक्र करो और पूरे बेतम चलने के लिए पूरे करनूल जिला के लिए दुआ करो बीमारी के हालत की दुआ ज़्यादा कबूल होती है और तीसरा यह है कि अल्लाह इज्जत बीमारियां हमारे गुनाह धुलने के लिए देते बचे कुछ गुनाह जो रहते दुनिया में ही धुल जाने के लिए अल्लाह के रास्ते में ही धुल जाने के लिए अल्लाह इज्जत थोड़ा बहुत झटका देकर अल्लाह उन सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा इन सारी बातों का हासिल ये है मेरे मोहतरमा बहनों के देखो अलहमदुल्ला को मजबूती के साथ पकड़ो घर में छोटे छोटे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह सिखाओ घर में बड़े लोगों को जब कोई तुम बात करो तो उनसे कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह की आदत डालो क्या मैं बच्चे एग्जाम कैसा लिखा तो बच्चे के मुंह से पहले अलहमदुल्ला निकलना माँ ये बात सिखा सकती बच्चों को अलहमदुल्ला अम्मी जान मैंने बहुत अच्छा लिखा बच्चों को स्कूल के दौरान में या मदरसे के दौरान में इम्तिहान के दौरान में और कोई भी मामले के अंदर सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बच्चों को भी सिखाना अलहमदुल्ला का कलमा और बड़े लोग भी याद करना थोड़े बात ऐसे रहते बच्चे अम्मानों को दादिनों को देख को सीख लेते मौके के एतबार से वो मौका महल के एतबार से वो सिचुएशन के हिसाब से जो अम्मा लोग जो बोलते रहते ना सेम वैसा ही बच्चे भी सीखते औरत बच्चे और ज़्यादा सीखती और बच्चा और ज़्यादा सीख औरत बच्चा और ज्यादा सीखते लेकिन पहले बड़ों की जबान बदलना अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ अल्लाह की तारीफ की तरफ और ये जो दावत वाला काम है ये अल्लाह की तारीफ का है खुद की तारीफ नहीं कर लेना ये बोकस है खुद की तारीफ नहीं कर लेना खुद की तारीफ नहीं कर लेना अल्लाह की तारीफ करना अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की तारीफ करना जो भी हालत हमारे साथ पेश आती है उन हालतों में जो भी हालत अल्लाह की तरफ से पेश आती है उन हालतों में अल्लाह की तारीफ ही करना चाहे वो हालत हमें अच्छी ना लगे हम अल्लाह की ही तारीफ करें चाहे वो हालत अच्छी ना लगे हम वो तारीफ अल्लाह की ही करें तो करेंगे ना सभी इंशाला अल्लाह के रास्ते में निकलने के ज़माने में अल्लाह की तारीफ सीखना अल्लाह के तारीफ के मुजाकरे भी करना अल्लाह की तारीफ के मुजाकरे भी करना जैसे देखो और बाज़ लोगों के बारे में बताया गया कि काफ़ी बीमार भी हुए और उनको बाटल वगैरह भी लगे हैं और जमात के मशूरे से इज्तमाही तौर पर अगर कोई काम नहीं भी मिलेगा तो आप लोग थोड़ा आराम कर लें और जो लोग के अपनी बशाशत के साथ में सीखना सिखाना कर सकते हैं सीखना सिखाना कर लेंगे तीन साढ़े तीन बजे और महल्ले के लोग आएंगे और उस वक्त में इज्तम कर लेंगे और बाकी तालीम वगैरह में और थोड़ा सा छुट्टी रहेगी आप लोगों के लिए और थोड़ा सा आराम कर लें और जो लोग बैठ कर सीखना सिखाना करना चाहते अपनी खुशी से वो अपना सीखने सिखाने में लगे रहें और मगरिब के बाद मुजाकरा अगर बशाशत के साथ अगर हुआ तो मकामी लोग कोई ना कोई के यानी कि मगरिब के बाद का मुजाकरा करेंगे और फिर अगले अमल इंशाल्लाह और कल से जारी हो जाएंगे ठीक है नबी ठीक है इंशाल्लाह खूब बेतम चलने के लिए भी दुआ करें बेतम चलने के हर महल्ले के लिए दुआ करें और खसूस साजिद नगर के लिए जहाँ से आप लोग आए हैं उसके लिए दुआ करें अल्लाह वहाँ ऐसे घर अता करें ऐसे लोग अता करें ताकि जमातों को संभालने वाले समझने वाले और कदर करने वाले पैदा फरमाए अल्लाह में और पूरे उम्मत के लिए और पूरे ज़िला कन्नूर के लिए भी दुआ फरमाएं क्योंकि जब आप अल्लाह के रास्ते में हैं अल्लाह ज़रूर अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की दुआ कबूल फरमाते हैं और मंजूर फरमाते हैं इसके लिए खसूस दुआ भी करो और जो है बीमार लोगों की दुआ भी ज़्यादा कबूल होती है और अल्लाह के रास्ते में निकले हुए मेहमानों की भी दुआ ज़्यादा कबूल होती है अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने ज़्यादा अमल की तोफ़ी अदा फरमाए हर वक्त अल्लाह की तारीफ़ में लगे रहने की अल्लाह की तारीफ सीखने की और अल्लाह की अच्छी बातों पर तारीफ करने की तोफीक मरहमत फरमाए वाखिर दावान अलहमदिल्ला आलमी